कुछ दिनों बाद विक्रांत फिर से आर्थर रोड जेल में पहुंचा हुआ था आज वो यहाँ पर रघुराज ठाकुर नाम के एक आदमी से पूछताछ करने आया हुआ है रघुराज ठाकुर उम्र पचास वर्ष ये भी पुसारी का ही रहने वाला है बाप का नाम गजेंद्र ठाकुर यही वो शख्स था जिसके छूटने की बात नैना विक्रांत से कर रही थी वैसे गजेंद्र ने तो एक से ज्यादा शादी की थी और उसके बच्चे भी कई थे लेकिन सबसे पहली शादी से उसका यही एक बेटा था ये जेल में अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में पिछले पंद्रह सालों से सजा काट रहा है जब उन्नीस में किडनैपिंग केस हुआ था तो उस वक्त ये काफी जवान रहा होगा इसकी उम्र तकरीबन 24-25 साल रही होगी हो सकता है कि उसे अपने बाप गजेंद्र ठाकुर के काम धंधों के बारे में काफी कुछ पता हो इसी अनुमान के साथ विक्रांत और नैना उससे पूछताछ करने के लिए आए हुए थे रघुराज ने मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन रमाकांत अग्रवाल के ऊपर चाकू से हमला किया था बहुत मुश्किल से रमाकांत की जान बच पाई थी तुम तो कह रहे थे कि ये बड़ा शरीफ आदमी है ईमानदारी से अपना जीवन बिता रहा है नैना ने विक्रांत को घूरते हुए कहा हाँ तो मैंने जो सुना था वो बताया ना मुझे क्या पता इसके बारे में विक्रांत ने अपनी तरफ से नैना को सफाई देते हुए कहा रमाकांत अग्रवाल ये नाम काफी सुना सुना सा लग रहा है विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा अरे तुम रमाकांत अग्रवाल को नहीं जानते मुंबई के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनके ऊपर अटैक भी हुआ था ना एक बार नैना ने विक्रांत को याद दिलाने की कोशिश की मुझे याद है जब उन पर अटैक हुआ था खबर आई थी कि बीच सड़क में उनके ऊपर किसी ने चाकू से हमला कर दिया था उस साल शायद मैं दसवीं या ग्यारहवीं की परीक्षा दे रही थी पूरे शहर में हलचल मच गई थी सुनने में आया था कि उनके ऊपर चाकू से कई बार वार किया गया था मौत के मुंह से बचकर आए थे हाँ शायद विक्रांत ने हामी भरते हुए कहा तभी उसे अचानक से याद आया कि रमाकांत अग्रवाल तो रोहित के बाप का नाम था ओ तो ये वही है रोहित वही लड़का था जो विक्रांत की पहली गर्लफ्रेंड जिया को प्रपोज करने के लिए हॉस्पिटल फूल लेकर पहुंच गया था और फिर विक्रांत ने अपने ब्रांड गैंग के साथ मिलकर उससे पैसे लूट लिए थे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है नैना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा ये रघुराज बिजनेसमैन रमाकांत अग्रवाल को मारना क्यों चाहता था और इतना बेधड़क होकर मार रहा था कि बीच सड़क पर चाकू से अटैक कर दिया क्या पता कोई दुश्मनी रही हो पुरानी रंजिश विक्रांत ने शक जताया तभी इन्वेस्टिगेशन रूम में लगे लोहे के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई पड़ी जेल के दो गार्ड रघुराज का हाथ पकड़कर अंदर ले आए और उसे नैना और विक्रांत के सामने पड़ी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा दिया रघुराज की एक आंख बंद थी ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी आंख में कुछ घोंप दिया था उसे सिर्फ एक ही आंख से दिखाई पड़ रहा था ऐसे में इस हालत में उसका चेहरा काफी भयानक लग रहा था गार्ड्स ने बताया कि जब वो जेल में आया था तो उसके दूसरे साल ही उसके अन्य कैदियों से लड़ाई हो गई थी और फिर उसी में से किसी ने उसको आंख में लोहे का रॉड घोंप दिया था लेकिन सच्चाई ये थी कि रघुराज की आंख को रमाकांत अग्रवाल के कहने पर फोड़ा गया था उसने पैसे देकर जेल के किसी कैदी से ये काम करवाया था इस वक्त विक्रांत और नैना किडनेपिंग केस से जुड़ी पूछताछ करने के लिए यहाँ आए हुए थे तो उन्हें रमाकांत अग्रवाल और रघुराज की दुश्मनी की कहानी से कोई मतलब नहीं था इसलिए उससे जुड़े सवाल करने की उन्हें कोई जरूरत भी नहीं थी इसीलिए विक्रांत ने सीधे ही रघुराज से केस से जुड़े सवाल पूछने शुरू किए रघुराज ने भी उन दोनों के इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग किया और उसे जो कुछ भी पता था उसने सब कुछ विक्रांत को बता दिया साल उन्नीस के वक्त उसकी उम्र कोई चौबीस साल थी वो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था दिन भर घूमना फिरना लड़कीबाजी जुआ शराब नशा यही उसकी जिंदगी थी उसे अपने बाप के काम से कोई मतलब नहीं था बस उसे इतना पता था कि जब भी उसे जितने पैसे की जरूरत हुआ करती थी उसका बाप उसके हाथ में रख देता था ना तो रघुराज ने कभी अपने बाप के बिजनेस और उसके काम के बारे में जानने की कोशिश की और ना ही गजेंद्र ठाकुर ने उसे कभी कुछ बताया यहाँ तक कि रघुराज अपने बाप के लिए काम करने वाले अशोक के बारे में भी कुछ नहीं जानता था उसने तो अशोक का कभी नाम भी नहीं सुना था काफी देर तक रघुराज के साथ सवाल जवाब करने के बाद जब विक्रांत और नैना को भरोसा हो गया कि यहाँ से कुछ पता नहीं चलने वाला है तब वो अपनी पूछताछ खत्म करके जाने लगे विक्रांत और नैना जेल के इस कमरे के बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक से नैना के दिमाग में ना जाने क्या आया उसने रघुराज से पूछ लिया वैसे तुम्हारी रमाकांत अग्रवाल के साथ क्या दुश्मनी है तुमने उसे मारने की कोशिश क्यों की थी उस आराम के पिल्ले का नाम मत लो रमाकांत का नाम सुनते रघुराज गुस्से में उबल पड़ा उस हरामी की वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया वैसे तो गजेंद्र का परिवार मुंबई शहर में काफी दूरी पर रहता था लेकिन फिर भी ना जाने क्यों रमाकांत अग्रवाल उसके परिवार के पीछे पड़ा हुआ था यहाँ पर यह भी क्लियर हो गया था कि गजेंद्र और उसके पूरे परिवार की मौत के पीछे रमाकांत का ही हाथ था रघुराज ने बताया कि उस वक्त रमाकांत अग्रवाल भी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में उतर आया था और फिर वो धीरे धीरे लोनावला तक के मार्केट को कवर करने की कोशिश कर रहा था इस चक्कर में वो गजेंद्र ठाकुर के बिजनेस को जानबूझकर बर्बाद करने में लगा हुआ था कई बार तो उसने गजेंद्र के शॉप पर चोरी वगैरह भी करवाई थी उस वक्त भी रमाकांत बहुत पावरफुल बिजनेसमैन हुआ करता था उसकी पहुंच काफी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर तक थी और उसकी मदद से वो गजेंद्र के बिजनेस को बर्बाद करने में लगा हुआ था फिर उसने अपने पहुंच का इस्तेमाल करते हुए गजेंद्र को अपना बिजनेस ठप करने पर मजबूर कर दिया था लेकिन अगर ये सिर्फ बिजनेस कंपटीशन ही रहा होता तो इतनी बात ना बिगड़ती होती गजेंद्र का बिजनेस बर्बाद होने के बाद भी रमाकांत लगातार उसे परेशान करता रहा रमाकांत ने गजेंद्र की बेटी यानी कि रघुराज की बहन का रेप भी करवाया था और फिर उसके कार का एक्सीडेंट करवा कर उसे मार डाला था तब गजेंद्र बहुत डर गया था और फिर उसने अपने इकलौते बेटे रघुराज को घर से बाहर कहीं छुपा दिया था ताकि रमाकांत उसके बेटे तक कभी ना पहुंच सके उसके कुछ दिन बाद ही अचानक से गजेंद्र की भी मौत हो गई और फिर उसकी पत्नी यानी कि रघुराज की माँ ने भी सुसाइड कर लिया था उस वक्त जब रघुराज को पता चला कि रमाकांत की वजह से उसका पूरा परिवार तबाह हो गया तभी उसने रमाकांत अग्रवाल को खत्म करने का फैसला कर लिया था और फिर जब उसे मौका मिला तब उसने रमाकांत को बीच सड़क पर चाकू से गोद डाला था रघुराज ने तो रमाकांत अग्रवाल को मौत की नींद सुनाने की पूरी कोशिश की थी लेकिन रमाकांत की किस्मत अच्छी निकली और वो बच निकला फिर उसने रघुराज को भी नहीं बख्शा वो तो अच्छा हुआ रघुराज जेल में चला गया वरना रमाकांत उसकी भी जान ले लेता रघुराज के जेल में जाने के बाद भी वो अपनी ताकत और पहुंच का इस्तेमाल करके रघुराज पर अटैक करवाने में सफल रहा सुनने में तो ये भी आया कि रमाकांत ने जेल के कुछ पुलिस वालों को भी पैसे खिलाए थे और उन्हीं की मदद से जेल के भीतर लोहे का रॉड पहुंचा था रघुराज की स्टोरी सुनकर नैना और विक्रांत का दिल भराया नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मैंने पहले भी रमाकांत अग्रवाल के बारे में सुना है वो बहुत पावरफुल बिजनेसमैन है उसकी पहुंच पार्लियामेंट तक है इसीलिए इतना कुछ करने के बाद भी आज तक पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई है उसे कोई पंगा नहीं लेना चाहता है नैना की बात सुन विक्रांत हंस पड़ा वो मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा तो नहीं है गजब इतफाक ये है कि इस वक्त एसएसपी रोनित चौहान भी रमाकांत की ही कंपनी अग्रवाल कॉरपोरेशन की जांच कर रहे थे लेकिन नैना ने कुछ सोचते हुए बोला सिर्फ बिजनेस कंपटीशन के चलते इतना वायलेंस सिर्फ अपना बिजनेस सेट करने के लिए कोई इंसान एक लड़की का रेप और मर्डर कैसे कर सकता है इसमें तो कुछ पर्सनल दुश्मनी लग रही है इसी तरह के कुछ पल तक सोचते रहने के बाद अचानक से नैना ने रघुराज से पूछा अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे बाप ने रमाकांत के साथ कुछ नहीं किया था मतलब कुछ महीने कुछ उन्होंने किया होगा तभी तो रमाकांत ने ये सब किया होगा कुछ इसके बारे में तुम्हें पता है नहीं मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है रघुराज ने याद करते हुए कहा और अगर कुछ भी हो तो मुझे नहीं लगता कि इतनी गहरी दुश्मनी रही होगी उस कमीने ने बिना मतलब के ही मेरे घर को तबाह किया है